और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूह एक हद तक कब्ज कर लेता है और दिन भर में तुमने जो कुछ किया होता है उसे खूब जानता है फिर उस नए दिन में तुम्हें नई जिंदगी देता है ताकि तुम्हारी उम्र की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए फिर उसी के पास तुमको लौट कर जाना है उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या क्या करते थे